है तो सुनना है तो जो है बस वो तो समझ लो कि आगे का जीवन इसी प्रकार से शरीर मिलता है इस प्रकार की बात नहीं लेकिन है इतने प्रकार की योजना और इतने प्रकार के मनुष्य प्रवृत्तियां भी हैं नाना प्रकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियां डेवलप कर लेते हैं और जैसे डेवलप कर लेंगे उसी प्रकार का उनको शरीर मिल जाता है यही प्रकार के बहुत बढ़ते हैं और उन शरीर को छोड़ने के बाद में तब कहीं हम शरीर प्राप्त करें चाहे एक दो दस बीस पचास शरीर कितने भी प्राप्त कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के बाद कभी कभी एक ही शरीर अगर किसी व्यक्ति को सुअर होना है तो सुअर होने का हम शरीर एक बार दो बार दस बार जब तक वो प्रकृति को अपने भोग को एक नहीं कर लेगा तब तक वो शरीर में रहकर के छोड़ करके पंद्रह शरीर में रामचरित मानस में आगे कथित कथा इस प्रकार उत्तरकांड में राजचंद्र के पूर्व जन्म की आएगी कि जिनको भगवान शंकर जी ने साथ दे दिया और उसके बाद में कभी अपना जिगर हो और हजार एक बार जन्म लोग तो बार बार अजगर मत रहे भूखा रहे वही शरीर बार बार प्राप्त होते रहने के बाद में क्या जाते थे मनुष्य प्राप्त तो ये सब जो ये कथाएं जिस प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि देखो कोई समय समस्या मतलब शरीर प्राप्त होने के बाद में किस तरह सत्य होंगे तो जो देता होगा ये होगा वो होगा ये तो उनकी अपनी कल्पना है शास्त्र के बाद और जो सिद्धांत के प्राकृतिक नियम उसके भी विरुद्ध बात है वो तो मनुष्य का जिस प्रवृत्तियां उन्होंने डेवलप करता है मनुष्य उसकी हीन प्रवृत्तियां जब उसकी उत्पन्न होगी तो हीन प्रवृत्ति के कारण संस्कार उसके शिक्षित बनेंगे और अवगत भी उसकी होगी जैसे कि काव्य की पिछले जन्म की थी अजय है जैसे ये हो गए तैसे अधोगति हो सकती है व्यक्ति कोई उनका मन शरीर के बाद मन शरीर ही मिलेगा ऐसा कोई नहीं ऐसे लोग लोग बात हो नहीं रहे इसलिए कहते आकर चार लक्ष चौरासी कोई कहते तो डरवाने के लिए अरे डरवाने अड़वाने के लिए नहीं ये सब तो है तो अगर हम कहें कि देखो दिन में अगर आप अच्छे कार्य करोगे पूरे विचार आपके मन में आएंगे तो आप में सपने भी उसी प्रकार से देखोगे देखो डरवाने की बात आप देख लो सर देखो सपने रात में ऐसे प्रकार दिखाई देते नहीं दिखाई देते अभी उसी प्रकार के आपको सपने दिखाई देते डरवाने की बात ये तो अनुभव सत्य गए जिनको ये सत्य पता न हो वही समय उनको भी इस प्रकार से बताने नहीं बात ब्रह्मजन के सिद्धांत के लिए शक्ति के अनुभव एक बहुत अच्छा समय है व्यक्ति के समाज से जिस प्रकार से जीवन जीता है उसका फल किसी जीवन में जागृताई अवस्था में नहीं सपने में प्राप्त होता दिखाई देता जब सपने में जागृत अवस्था के फल करने का फल सपने में जो कोई भोग सकता है तो सही छोड़ने के बाद भोगे सपने भर जाते हैं बाद और क्या आकाश कितना है क्या गलत बात है न समझ में आने वाली कौन सी उसमें बात है इसलिए कहते हैं आकर चार लक्ष्य चौरासी जो सुनत ये जीव अविनाशी एक सदा माया तस्वीरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा अब देखो जीव की कथा है अब ये ये भी समझ लो जीव क्या है जब चार लाख की योनियों योनियों भी बात आ गई तब इसी के साथ साथ ये भी बात भगवान ने बोल दी कि कोई व्यक्ति शरीर मात्र तो है शरीर के भीतर बात करने वाला जो जीव है समझना चाहिए व्यक्ति की कि अगर जीव है और शरीर है शरीर जी हो वो चला जाएगा ऐसा नहीं इस शरीर में बात करने वाला जो जीव है वो मैं ही हूँ और मुझे शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा मुझे ही दूसरा शरीर प्राप्त होगा ये जीव क्या है इसमें इस प्रकार के जैसे शरीर दिए रहा स्थूल शरीर स्कूल शरीर से छूट गया तो उसके बाद और क्या है दो शरीर और सूखी शरीर कारण शरीर तो सूखी शरीर कारण सहित जो चेतना है वो इसको लेकर के जाएगी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा ये जो स्थूल शरीर है ये स्थूल शरीर पांच अत्यंत भौतिक शरीर है ये आप जो उसमें जो किए हैं बना हुआ मज्जा इत्यादि का ये सब जो शरीर है स्थूल शरीर इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें इतर इंद्रिया है प्राण है ज्ञान इंद्रिया है अनुभूति है ये सूक्ष्म शरीर है इसके भीतर भी साथ में एक वासना का शरीर है ये दोनों शरीर नहीं है जीव जो है इन दोनों शरीरों को लेकर के एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है इसी का जीव है ये जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है तो भगवान कहते हैं तरफ प्रदान माया प्रेरा या माया मन अविद्या अविद्या से प्रेम जुड़ता रहता जब तक जीव अविद्या में ग्रसित है अपने आप को जीव मात्र समझता है अपने आप को शरीर मात्र समझता है तब तक वह ज्ञान है विद्या कर है जब वो अपने आप को संज्ञान आत्मा है परमात्मा है परमात्मा है तब उसको ये दिखाई देने लगे तब उसकी अविद्या खत्म हो और जब तक अविद्या खत्म नहीं होती अविद्या ही है तब तक अविद्यात्मक जो जीव है वो फिर शरीर होने से एक शरीर से दूसरे शरीर में से यात्रा करनी पड़ेगी न शरीर धारण करने वाला है तो इसके माना वो जीव है और अविद्या उसके साथ में सीखने की जरूरत है एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर अविद्यात्मक माया के काम जाएगा और ये अविद्या क्या करती है कैसे काम करती है अविद्या के ही रूप है काल कर्म स्वभाव गुण घेरा अविद्या काम करती है तो बस उसके गुण उसका स्वभाव उसके कर्म काल ये सब उसके इतने फैक्टर में वो उसके साथ काम करते हैं और जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है अभी आप देख रहे हैं दो तीन दिन से कि का वर्णन आया वहाँ पर बताया कि भगवान के लिए जो है उस समय कार्यक्रम स्वभाव त्याग की बात वहां भी कही और कहा कि देखो कि भगवान की कृपा से ये वहाँ किसी को बाधित नहीं करते फिर यहाँ पर देखे कि शरद कुमार ने भगवान से प्रार्थना की तब उनसे भी ये कहा कि भगवान आपके कार्यक्रम स्वभाव इत्यादि के नाटक हैं रक्षक हैं इस प्रकार से उनकी प्रार्थना करते हुए बोला या अक्सर वही कार्यक्रम सुधार की तो बात करते हैं मैंने जीव के साथ में ये वर्किंग फैक्टर्स कितने कि जैसे व्यक्ति जैसा कर्म करता है जीव जैसे कर्म करता है तो वो कर्म उसका प्रभाव है कर्म के कारण से उसके गुण का विकास होता है गुण के मैंने कर्म कर रजोगुण सत्य जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे नहीं कर्म होंगे तो कर्मगुण बढ़ेगा नहीं कर्म होंगे तो रजोगुण बढ़ेगा नहीं कर्म होंगे तो गुण बढ़ेगा अब जैसा सत्वगुण तमोगुण परमाण ये हो तो जैसा तमोगुण होगा तो तमोगुणी मन बुद्धि हो जाएगी रजोगुणी तो रजोगुणी मन बुद्धि होंगे सत्यगुणी तो मन बुद्धि सत्यगुणी होंगे तो यहाँ का उसका स्वभाव दिखाई देता है स्वभाव कैसा होता है किसी का स्वभाव तमोगुणी किसी का रजोगुणी किसी का सत्यगुणी तो कल कर्म से तीन गुण तीन गुणों से व्यक्ति का स्वभाव ये तीन हो गए जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव है वही उसको फल देता है वही उसको ले जाता है अपने व्यवहार में भी आप देखें तो देखेंगे हर व्यक्ति के स्वभाव में आपका अगर स्वभाव अगर व्यक्ति उसे कह दिया जरा कानपुर घूमना तो कानपुर जाएंगे तो उसे वो कहाँ जाएंगे कौन व्यक्ति कहाँ जाएगा सब एक जगह चले जाएंगे तो। वो देखेंगे किसका जैसा स्वभाव जैसा होगा वैसे वैसे देगा कोई मंदिर घूमने जाएगा शहर में कोई बाजार देखने जाएगा शहर में कोई होटल की दुकान है जहाँ खाने खाने के लिए मिलती है उनकी बाहर उनको ढूंढेगा कोई कपड़े धोने की दुकानें ढूंढने लगेगा कहीं कोई सोने चांदी की दुकानें ढूंढने लगेगा कोई घड़ी घड़ी ढूंढने लगेगा इस प्रकार सब जगह के अलग अलग जगह वहाँ पर उनको ले जा रहा है वहाँ पर पता लगा उसके इधर बैठा हुआ कोई है ना बच्चा काम कर रहा है कोई काम कर रहा है हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव बस ऐसे करके जीव का एक स्वभाव एक शरीर छोड़ करके जब जाता है तो स्वभाव ही व्यक्ति को ले जाता है अपने स्वभाव के जीव चल जाता है और जाना पड़ता है उसको उसी प्रकार ये कोई ये सब अनुभव की बातें हैं ये उदाहरण है जिनसे आपको संकेत मिल जाएगा किस प्रकार से जीव जाता है कहा जाता है किस प्रकार से होता है तो ये कहते हैं व्यक्ति का कर्म और उसकी उसकी बातनाएं रजोगुणी रजोगुणी और फिर उसका स्वभाव ये सब अपना काल का करके फल देते हैं का उसमें कि मैंने ऐसा नहीं कि कभी कभी कोई व्यक्ति कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने व्यापार भ्रष्टाचार किया चोरी की तो देखो ये चोर फोर जितने बदमाश लोग हैं ये बड़े सुखी दिखाई देते हैं अरे कर्मा जी का कोई फल नहीं होता ऐसे जो लोग निर्णय करने लगते हैं सोचने लगते हैं तो नासमझ व्यक्ति हैं साथ ही कहता कि उनके अपने सुरक्षित कर्मों का फल कालांतर में प्राप्त होगा काल का चक्कर तो उसके साथ काम करता है उसको भी कल्पना करो ऐसा नहीं कि जांच किया जो कर्म किया और सब काल उसका फल मिल जाए ऐसे नहीं हुआ सकता तो कर्म करने से उसके व्यक्ति के कुछ तमोगुण बनेगा रजोगुण बनेगा फिर उसका स्वभाव बनेगा उसका प्रकाश होगा फिर कालांतर में उसी प्रकार की स्थिति पर जैसे मिलेंगी तब उसका से जाकर के उसका भोग परिकार होकर के उसका फल देखने में आएगा सुख दुख का विषय अनुभव आएगा कालांतर तो ये सब इतने कष्ट जीव के साथ लगे जीव के साथ में अविद्या तो मूल बात है और उस अविद्या जब तक रहती है तब तक उसको ये चार कष्ट घरे होते जैसे कि कोई पहनने कराने के लिए बकरी चढ़ाने के लिए ले जाए कहीं चढ़ाने के लिए तो चरवाहा जो है झंडी लाठी लिए रहेगा और बकरियों को चढ़ाएगा और बकरियों को वहीं जाना पड़ेगा जहाँ की लाठी घूमेगी इसी प्रकार से जीव जो है उसके पीछे चार तरफ से ये चार तरफ है उसके चारों तरफ से उसको जो है वो पॉइंट किए रहते हैं उसको जाते रहते प्रेस करते रहते हैं और जीव को उसी दिशा में उसी प्रकार से भागना पड़ता है यही व्यवस्था अवस्था अवस्था बंधन है ये जीव की स्थिति है जीव उसके साथ में इस प्रकार के स्वभाव आदि सत्रह आदि वो सब उसको उसको घेर करके विवश होकर के एक दिशा में ले जाते हैं उसी प्रकार का सुख दुख भोग कराते हैं उन्हें क्या ठीक रहता पर जीव को ये स्वयं पता नहीं होता कि हम कैसे घिर गए कहाँ गिर गए ये सब क्या हो गया वास्तव हम है क्या और ये होता गया ये उसकी अविद्या इस जंजाल से बचने के लिए उपाय रखा साधना इससे निकलने के उपाय कर तो जैसे सही सदा आया कर फेरा काल करो स्वभाव को घेरा और नर कण भव बार जो कहो बेरो अग्नि कुमार का अनुग्रह मेरो अभी दिखाते हैं जैसे मनुष्य शरीर है जैसे करता साधन धाम मुक्त कर द्वारा उसी बात से आ जाते हैं शरीर का सदुपयोग कैसे करें तो बताते हैं नर्क अनुभव कार्य तुम मेरो ये मनुष्य शरीर है वो संसार सागर से पार होने का उपाय जी भाव से छुपा है ये ज्ञान करने के भोगते हुए जगह जगह सही धारा करते बदल रहे हैं इसे बचा जा सकता है ये मनुष्य शरीर में संभव नर्क अनुभव का कार्य दे रो भोगाई मन संसार समुद्र भोग संसार और भारत मन समुद्र संसार समुद्र में जो पड़ा हुआ जीव है जो उसमें भटक रहा है उसके लिए ये मनुष्य शरीर बेड़े के समान बेड़े के समान के बारे नाव के समान करोगे हम्म, ये मनुष्य शरीर का एक नाव जैसे नाव में बैठ करके कोई व्यक्ति समुद्र पार कर जाए नदी पार कर जाए उस प्रकार से मनुष्य का शरीर मिल गया तो एक नाव मिल गई अब इसके द्वारा अंकार कर सकते हैं तो कहते हैं इसमें जो है इस नदी में इस नाव के लिए सहायक कौन कौन है सन्मुख मर का अनुग्रह मेरो अब नाव को ले जाने के लिए वायु जैसे पाल बंधे होते हैं उसमें पाल हवा भरती है हवा भरती है तो नाव की बल से चलती है पाल में भरी हुई हवा से तो इसमें जो हवा भरती है पाल में उसको समझने भगवान के उधर उदाहरण में तो नाव के पास में भरी हुई हवा जो तो नाव को घसीटती है शक्ति का काम करती है इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान भगवान की जो कृपा है वो उसी वायु की तरह से और इसमें कई जब भगवान ने बोल दिया सन्मुख कुमार का अनुग्रह मेरो तो इसमें आप देखेंगे कि और भी भाव भाई में कोई व्यक्ति कभी कभी ये सोचता है कि रामायण में जैसे दो बातें हैं कि इसमें कर्तृत्व भाव राम का है कि कर्तृत्व भाव जीव का है जो कुछ करता है तो जीव करता है कि जो कुछ करता है वो भगवान करता है इसमें लोगों की बुद्धि चकराती है कि क्या मामला है तो भगवान कहते हैं दोनों बातें है कुछ भगवान चलाते हैं कुछ जीव चलाता है भगवान क्या चलाते हैं मोटे सोच जो है वो भगवान के जैसे नाव चलाते हैं तो नाव पान में हवा भर गई तो वो जो नाव को सीखने वाली शक्ति है वो एकमात्र जैसे वायु की है ऐसी जीवन का संचालन करने वाली शक्ति ये जो शक्ति मूल शक्ति है वो परमात्मा की है लेकिन ये शक्ति को दिशा देने वाला कौन है अब यह तो नाव चलाने वाला व्यक्ति जो नाव में बैठा हुआ है वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे पर घुमाओ जहाँ वो घुमा देगा वहां नाव चली जाएगी चाहे भवन में डाल दो चाहे धारा में डाल दो चाहे किनारे लगा दो जहाँ चाहे वहां ले जाओ और अगर वो स्वयं नाव को चलाना नहीं जानता सही दिशा में ले जाना नहीं जानता तो वो वायु चलती हुई वायु है उसका वो सदुपयोग नहीं कर सकता इसलिए भगवान कहते कर्म भारत सदुपयोग करना आगा इस नाव का जो है ठीक ठीक चलाने वाला जो है वो है सदगुरु है सदगुरु जो है डायरेक्शन जीवन का देगा कि देखो परमात्मा अपनी शक्ति जो तुम्हें प्राप्त है और तुमको सही दिशा में आगे लिए जा रही है उसको तुमका संचालन इस प्रकार से करो तो जीवन को जिस प्रकार से संचालन करेगा तो सदगुरु काम जो है वो उसका नाविक का चुनाव चलाने वाला जो होता है वो जानकार होता है शिक्षक होता है तो वो जिस प्रकार चलाता है उस प्रकार से और दुर्लभ का सुलभ कर पावा तो कहते हैं इस प्रकार से जो दुर्लभ वस्तुएं थी जो अन्य किसी शरीर में की कर पक्षियों को देवताओं आज के शरीर में नहीं मिल सकते थे वो यहाँ पर देखो गुरु मिल गया मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर भाव की तरह से मिल गया गुरु जो मिल गया उस पर की तरह से मिल गया और गुरु के साथ साथ मिल गया गुरु जो है स्वतंत्र रूप से थोड़ी बताता है ये मनुष्य शरीर में शास्त्र भी हो गुरु भी हो ये मनुष्य शरीर में ही उपलब्ध होंगे और उसके निर्देशन में अगर जीवन चलता है तो जीवन सही दिशा में चलता है और व्यक्ति पार हो जाता है और नहीं तो फिर वही अपनी नाव लेकर के डूबता है अपने आप मन नहीं करेगा चलाया रहता तो इस तरह से ये सब दुर्लभ साल सुलभ कर पा रहा है तो जो न करे भरोसा नर समाज पाए कहते हैं अगर कोई उसको मनुष्य सभी प्राप्त करके भी और इतनी सारी सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त हो गई इतने सहायक तत्व तो उसको मिल गए भगवान की कृपा भी मिल गई गुरु भी मिल गया मनुष्य कवि भी मिल गया शास्त्र भी मिल गया ये सब होने के बाद में आप जरूरत क्या रहे जाती है जरूरत रह व्यक्ति के स्वयं अपने आप के संघर्ष की स्वयं अपने आप को व्यक्ति अपने ऊपर कृपा करे और इन साधनों का सदुपयोग करे की भीड़ है अनुकूल वायु लेकिन मनुष्य से अनुकूल वायु को लाभ ही उठाना चाहे तो भगवान का है मनुष्य को अपनी तरफ से स्वयं ही प्रयास करके उस भगवान की कथा का लाभ उठाना चाहिए ये वायु का स्थान जो है वो राम का भी देते रहे साहित्य में देखो तो रामचरण परमहंस ने तो अपने शिष्य को बताए उनके बाद में उनके शिष्य हुए विवेकानंद इत्यादि में उसका उदाहरण देते रहे उल्लेख करते रहे बाबा ब्रह्मानंद हुए विवेकानंद हुए ये सब लोग बोलते रहे कि रामचरण परमहंस उस प्रकार से बोलते भगवान की कृपा लोग बात बोलते थे अरे भगवान की कृपा होगी तो सब हो जाएगा भगवान की कृपा होगी तो सब हो जाएगा तो वो कहने लगे रामचंद्र परमन करे भगवान की कृपा तो सबके ऊपर सदा एक समान है किसी के ऊपर कम ज्यादा प्रभाव भगवान के नहीं जैसे कि समुद्र के ऊपर हवा तो बराबर चलती रहती समुद्र को हवा समुद्र किनारे रहने आ गए नहीं गए और बात समुद्र दिखाई देता है नाविक है नाव लेकर के समुद्र में जाते हैं कैसे जाते हैं तो अपना पाल ऐसे खुल देते हवा भक्ति ले जाते हैं समुद्र में हवा मछली की पकड़ते हैं जब तक वहां रहते हैं तब तक पाल गिरा देते हैं जब किनारे पाना होता है तब तक पाल देते हैं पुरुष की डोरी खींचते हैं डायरेक्शन उसको देते हैं नाव बैठ के धर्म के किनारे शक्ति ऊपर आ जाती है तो रोज देखते हैं देखो कैसे नाव को कर ले जाती है कैसे गाड़ी धर्म है नाव के किनारे ले आती है तो कहते देखो वायु कैसे कार्य कर रही है लेकिन इसी वायु को जो समुद्र के ऊपर चल रही है अगर कोई चालक में न टाले और किनारे पर अगर उसकी नाव खड़ी है किनारे खड़ी है अगर समुद्र के बीच में नाव खड़ी है और पाल नहीं टालता तो वही पावन समुद्र के बीच में खड़ी रहेगी ना किनारे अपने आप कैसा रहेगा उस वायु की जो है वायु की कृपा को का उपयोग करने के लिए आपको अपना कार्य करना पड़ेगा इसी प्रकार से भगवान की कृपा तो आपके ऊपर आ रही है और आपके सत्य तो होकर जिंदगी चली जा रही है आप जहाँ प्रकार करते तो भगवान की हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है अरे भाई अपना कुछ आप चुकाने उसमें भगवान की कृपा को उपयोग में करना भगवान जो हमारे जीवन को चला रहे हैं जो मोटे कोर्स कार्य कर रही है जिसके कारण सभी चल रहा है जिसके कारण कार्य कर रहा है में जो मूल तत्व शक्ति जो विशेष है वो तो परमात्मा है चला दे रहा है अब हम इस शरीर का उपयोग कैसे करते हैं अपने मन बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं ये हमारे पास हो न करो उपयोग तो, तो भगवान के शरीर चला ही जाए कहा जाए तो कहा जाए जैसे कोई कार चल रही है जो ग्रहण खाया जाता जाने का तरीका बता के प्रश्न बढ़ा लो अरे बिना बदल के चलती दूरी रहने वाले हो तो चलाते रहो चलिए उत्तर बन लेकिन नहीं चला सकता तो नहीं चलेंगे अरे पेट्रोल के साथ चलती हो तो गाड़ी में पेट्रोल डाल दो स्टार्ट करके चलने दो गाड़ी की जरूरत है अरे भाई उसको डायरेक्शन कौन देगा सबको बचाने के पेट्रोल निकालेगा की भी जरूरत है दोनों की जरूरत है इसी प्रकार से ये कोई परमात्मा की मोटे सोच जो कठोर की तरह काम करने वाली जीवन में वो तो परमात्मा की शक्ति है लेकिन अपने आप के जीवन को आप अलग अलग करा रहे हो राजमार्ग पर कि आप गड्ढे में ले जाकर के जाते हो ये काम आपका है उसका काम परमात्मा का नहीं अपनी जिम्मेदारी भी समझो क्या अगर अपनी जिम्मेदारी में होती तो भगवान इतना समझाने के लिए प्रयास क्यों करते भगवान कहते हम जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं सब लोग हमारे को अनुग्रह ले रहे मैं भी अनुग्रह कर ही रहा हूँ लेकिन फिर तुम भी तो कुछ करो जो न करे और सागर अंदर समाज है यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उद्धार के लिए सुविधाएं प्राप्त करा दी है साधन मिल गए फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपना उद्धार नहीं करता शोक निंदक मंदमती और आत्मा अनुगत है वो निंदनीय कार्य करता जीवन को विषय में लगा सकता परमात्मा के करने के लिए जीवन को उपयोग नहीं करता तो उसका कार्य निंदनीय है और वो व्यक्ति कहता है मन मती मन में मन उसकी अपनी चाहे तो अपने आप होशियार समझो चाहे दूसरा विद्वान समझो चाहे बड़ा भारी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझो चाहे विश्वविख्यात समझो लेकिन ये कार्य नहीं किया तो शास्त्र से मन मती है तो कहते उसको वो तो आत्महत्या कर रहा है अगर कोई व्यक्ति इस जीवन का उपयोग परमात्मा नहीं करता मार्ग में नहीं ले जाता विषयों में प्रवृत्त होकर के अपने शरीर को विनाश कर रहा है मन बुद्धि को गिरा रहा है समग्र जो अर्जित कर रहा है दोष अर्जित कर रहा है नाना प्रकार की दुष्ट वृत्तियां उत्पन्न कर रहा है तो कौन अपना कल्याण कर रहा है अपना रहा है अपना विनाश कर रहे आत्महत्या